फरही ने देखा उनसे दस बारह कदम दूर वैसा ही एक काला नागफन फैलाए हुए था जैसा हसन ने कब्रस्तान में देखा था यह घोड़े की नफ्सियात है कि उसकी पीठ पर सवार मौजूद हो और वो अपने रास्ते में सांप देख ले तो रुककर खौफ से कांपने लगता है अगर सवार ना हो तो घोड़ा सरपट भाग उठता है नाग तेजी से घोड़ों की तरफ आया हसन ने देखा कि उसके पीछे पीछे ऐसा ही एक और नाग है घोड़ों ने जब नागों को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन पीछे भाग उठे हसन और फरही ने घोड़ों को काबू में रखने की बहुत कोशिश की लेकिन घोड़े काबू में नहीं आ रहे थे हसन का घोड़ा आगे था और अपने आप ही दाएं बाएं मुड़ता जा रहा था हसन बार बार पीछे देखता था कि फरही कितनी दूर है घोड़े दौड़ते इन भूल भुलैयों में दाएं बाएं मुड़ते रहे और हसन ये देखकर हैरान रह गया कि उसका घोड़ा उस जगह जा निकला जहाँ से वो इन भूल भुलैयों में दाखिल हुए थे वो मैदान था चटाने पीछे रह गई थी हसन ने बड़ी मुश्किल से घोड़े को काबू में किया और उसे रोक लिया उसने इधर उधर देखा वो फरही के घोड़े को ढूंढ रहा था उसे फरही का घोड़ा तो नजर आ गया लेकिन फरही उसकी पीठ पर नहीं थी हसन ने उसके घोड़े की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा दिया और उसकी लगाम पकड़ ली उसने फरही को आवाज़ें दी बहुत पुकारा लेकिन फरही की तरफ से कोई जवाब ना आया हसन आहिस्ता आहिस्ता उन चटानी भूल भुलैयों की तरफ चल पड़ा वो फरही को ढूंढने जा रहा था हसन बिन सबाह के होश उड़ गए वो दुनिया को अपने अजाइम को और अपनी मंजिल को भूल गया था वो एक बार फिर चट्टानों के भूल भुलैयों में दाखिल हो गया और बड़ी ही बुलंद आवाज़ से फरही को पुकार रहा था लेकिन चट्टानों से गुजरती हुई तेज़ हवा की सरसराहट के सिवा उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था यहीं से वो बाहर निकला था मगर अब वो वहीं से अंदर गया तो उसे वो जगह ऐसी अजनबी महसूस हुई जैसे पहले कभी देखी ही ना हो एक चट्टान उसके सामने थी उसके पहलुओं से दो रास्ते जाते थे और एक रास्ता दाएं को जाता था हसन बिन सबाह को याद ही नहीं रहा था कि वो इन तीनों में से कौन से रास्ते से बाहर आया था सामने वाली चट्टान का ये इधर वाला सिरा था और उसकी ढलान बड़ी आसान थी हसन बिन सबाह ने घोड़े को एड़ लगाई और चट्टान पर चढ़ गया उसने फरही के घोड़े की बाग अपने घोड़े के जीन के साथ बांध ली थी ऊपर जाकर उसने हर तरफ नज़रें घुमाई दूर दूर तक ऊंची नीची चट्टानों की चोटियों के सिवा कुछ और नज़र न आया कुछ चटाने ऊपर से चपटी थीं और कुछ ऐसी भी थीं जो चटाने लगती ही नहीं थीं वो बहुत ही बड़े बड़े बुतों की मनिन थीं कोई बुत इंसानों जैसा कोई किसी जानवर जैसा था एक चटान ऐसी थी जो मंदिर के मीनार की तरह ऊपर चली गई थी उसकी चोटी पर एक बहुत बड़ा गोल पत्थर यूं रखा हुआ था जैसे किसी औरत ने सर पर घड़ा रखा हुआ हो यह सारा मंज़र इस दुनिया का खिता लगता ही नहीं था यह तो ख्वाब का मंज़र था यह खिता तीन मील लंबा चौड़ा हो सकता था और चार मील भी फरही हसन फेंपड़ों का सारा ही जोर लगाकर पुकारने लगा कहाँ हो फरही फरही कोई जवाब नहीं खामोशी वो दौड़ते घोड़े से गिरकर बेहोश पड़ी होगी उसने इस तरह ऊंची आवाज़ में कहा जैसे अपने पास खड़े किसी आदमी को बता रहा हो उसके पास दो घोड़ों के सिवा कोई भी नहीं था उसे फरही तक जल्दी पहुंचना था हो सकता था वो गिरकर मर गई हो या मर रही हो और यह भी नामुमकिन ना था कि वो गिरी तो उसने नाक ने ढस लिया हो हसन बिन सबाह को अपने उस्ताद अब्दुल मलिक इब्ने आताश का एक सबक याद आ गया कि रास्ता याद ना रहे हम सफ़र कहीं खो जाए या कोई चीज़ गुम हो जाए तो क्या अमल किया जाए वो घोड़े से उतरा और नीचे देखा चट्टान की एक सिल स्लेट की तरह हमवार थी हसन उकड़ू बैठ गया और छोटा सा एक पत्थर उठा लिया इब्ने आताश ने उसे मुराकबे में जाने की बहुत मश्क कराई थी उसने आंखें बंद की और दो तीन बार लंबे सांस लिए फिर उसने आंखें खोली और उंगलियों में पकड़े हुए कंकरी जैसे पत्थर से सिल पर ऊट पटांग से खाने बनाने लगा उन खानों को उसने गौर से देखा और किसी खाने में एक हर्फ और किसी में एक हिंसा लिखा उन पर कुछ देर नज़रें जमाई रखीं और उठ खड़ा हुआ घोड़े पर सवार होकर वो चट्टान से उतर आया और उस चट्टान के साथ साथ आगे को चल पड़ा सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी यह रास्ता कुछ आगे जाकर एक तरफ मुड़ गया थोड़ा आगे जाकर उस रास्ते को एक गोल चट्टान ने रोक लिया था और वहां दोराहा बन गया था हसन रुक गया और दोनों रास्तों को देखा उसने घोड़ा रोक लिया था आंखें बंद करके उसने कुछ सोचा दाएं तरफ उसे हल्की सी कोई आहट या आवाज़ सुनाई दी उसने चौंक कर आंखें खोल दी और इधर देखा कुछ दूर एक न्योला खड़ा उसकी तरफ देख रहा था हसन न्योले को देखता रहा न्योला एक तरफ दौड़ पड़ा हसन घोड़ा उस तरफ ले गया और वहाँ तक चला गया जहाँ न्योला खड़ा था उस तरफ देखा जिस तरफ न्योला गया था ये दो चट्टानों के दरमियान बहुत ही तंग रास्ता था जो कुछ दूर तक चला गया था लेकिन सीधा नहीं बल्कि कई एक गोल गोल और कुछ मुखनी सी चट्टानों से घूमता मुड़ता जाता था हसन बिन सबाह जो फरही के लिए परेशान हो रहा था और उसे पुकारता भी रहा था अब यूं इत्मीनान से चला जा रहा था जैसे उसे फरही मिल गई हो या फरही उसके दिल से उतर गई हो हकीकत यह थी कि उसने चट्टान पर बैठकर सहर यानी काले जादू का एक अमल किया था जिसमें उसे वाजह इशारा मिला था कि वो फरही तक पहुंच जाएगा लेकिन ऐसा कोई इशारा नहीं मिला था कि फरही जिस जगह है वहाँ तक रास्ता कौन सा जाता है अलबत्त यह पता चल गया था कि उसे इशारे मिलते रहेंगे जिन्हें समझने के लिए वो अपनी अकल इस्तेमाल करे तारीख़ की ये एक मुसलमा हकीकत है कि हसन बिन सबा ने पुरासरार उलूम सीख लिए थे इबन खलदून तारीख़ इबन खलदून हिस्सा पंजुम में लिखता है इल्म नजूम व शहर में हसन बिन सबाह को यद तवील हासिल थी इबन तासीर और देगर मोरखों ने भी लिखा है कि हसन बिन सबाह इंतहा दर्जे का अयार और मकार तो था ही उसने इल्म शहर में भी खसूसी महारत हासिल कर ली थी उसने इन पुरसरार उलूम में इस सफ़र के बाद महारत हासिल की थी इस सफ़र के दौरान उसके पास शहर की इतनी ही ताकत थी जो उसे अपने अतालिक इब्ने आताश से हासिल हुई थी वो इन उलूम की तकमील के लिए ही जा रहा था वो जा तो रहा था लेकिन ऐसे चटानी ख़त्े में फंस के रह गया था जिसे वो कभी कभी ख्वाब समझता था इसमें भी शायद कोई रास था कि उसे बड़े दुशवार गुजार रास्ते पर डाला गया था उसे इस रास्ते का इशारा ख्वाब में मिला था दास्तान गो सुना रहा था कि हसन बिन सबाह एक तंग रास्ते पर अजीब गरीब सी शक्लों की चट्टानों की दुनिया में जा रहा था फिर एक मुकाम आ गया जो दो रहा था हसन ने रुककर दोनों रास्तों को देखा दोनों रास्ते थोड़ी थोड़ी दूर जाकर मुड़ जाते थे हसन कभी इधर कभी उधर देखता था उसे पूरी उम्मीद थी कि गैब से उसे कोई इशारा मिलेगा लेकिन कुछ भी ना हुआ सिवाय इसके कि वो जिस घोड़े पर सवार था वो आहिस्ता से हिन हिनाया और खुर मारने लगा दूसरे घोड़े ने भी यही हरकत की इस अंदाज से घोड़े का हिन हिनाना और घोड़े का खुर मारना उसकी बेचैनी का इजहार होता है हसन ने कदरे घबराकर इधर उधर देखा कि घोड़ों ने फिर सांप देख लिया है लेकिन उसे ख्याल आया कि घोड़ा डर का इजहार किसी और अंदाज से करता है वो घोड़ों का ज़माना था लोग घोड़ों की नफ्सियात समझते थे हसन समझ गया कि घोड़े भूखे हैं शायद प्यासे भी हों घोड़ा अपने आप ही एक रास्ते पर चल पड़ा हसन ने लगाम खींच ली लेकिन घोड़ा रुकने के बजाय और तेज़ हो गया उसकी जीन के साथ बंधा हुआ दूसरा घोड़ा उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था हसन ने कुछ सोचकर घोड़े की लगाम ढीली छोड़ दी यह इशारों पर चलने वाला घोड़ा था और हसन को इस घोड़े पर एतमाद था घोड़ा सर नीचे करके दौड़ पड़ा वो सर किसी और ही तरह दाएं बाएं झटक रहा था घोड़ा अगला मोड़ सवार के इशारे के बगैर ही मुड़ गया हसन देखकर हैरान रह गया कि आगे चट्टानों में घिरी हुई कुशादा जगह थी जहां हरी भरी घास थी और सरसब्ज दरख्त थे यह जगह सहरा में नखलस्तान जैसी थी घोड़ा और तेज़ दौड़ा और वहां तक पहुंच गया वहां सब्जे में घिरा हुआ एक चश्मा था पांच सात गज लंबाई चौड़ाई में बारिश से ढले हुए आसमान जैसा शफाफ और नीला पानी जमा था शफाफ भी इतना कि उसकी तह में कंकरियां भी साफ दिखाई दे रही थी यह पता नहीं चलता था कि फालतू पानी कहाँ गायब हो रहा था घोड़ा बेसब्री से पानी पीने लगा हसन ने उतरकर दूसरे घोड़े की बाग अपने घोड़े की जेन से खोल दी उसने भी बेताबी से चश्मे से मुंह लगा लिया तब हसन को ख्याल आया कि घोड़े प्यासे थे जानवर खसूस घोड़े और खच्चर पानी की मुश्क दूर से पा लेते हैं घोड़ा बेलगाम और मुजोर होकर पानी तक पहुंच जाता है हसन बिन सबा ने घोड़ों को पानी पीते देखा तो उसे भी प्यास महसूस होने लगी चश्मे के किनारे घुटने टेक कर वो पानी पर झुका और चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगा उसका सर झुका हुआ और नज़रें पानी पर लगी हुई थी उसके हाथ रुक गए और उसने जहन पर जोर दिया उसे अपना ख्वाब याद आया जिसमें उसने इस सफ़र का रास्ता देखा था उसे याद आया कि ख्वाब में उसने चश्मा देखा था उसे यह भी याद आया कि इस चश्मे से रोशनी सी फूटी थी जहन पर जोर देने के बावजूद उसे उससे आगे याद ना आया लेकिन उसे इत्मीनान हो गया कि वो गलत रास्ते पर नहीं जा रहा वो एक बार फिर टुल्लू भरने के लिए पानी में हाथ डालने लगा तो उसके हाथ एक बार फिर रुक गए और नज़रें पानी पर जम गईं पानी के सामने वाले किनारे के नीचे पानी में एक आदमी का अक्स झिलमिला रहा था पानी साकिन नहीं था छोटी छोटी लहरें उस पानी के उस किनारे तक जा रही थीं उस आदमी का अक्स उन लहरों पर तैर रहा था हसन सुन होके रह गया वो बुजदिल नौजवान नहीं था उसके पास तलवार थी और एक खंजर भी था लेकिन उसे अपनी ज़ात से ये इशारा मिल रहा था कि ये आदमी कोई मुसाफिर नहीं जो प्याज बुझाने सरे राह चश्मे पर आ गया हो हसन ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया उससे बीस बाईस कदम दूर एक टेकरी पर एक लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा था लिबास से वो इसी खत्े का आदमी मालूम होता था उसके सर पर इस खत्े की मखसूस पगड़ी थी और पगड़ी पर इतना लंबा सियाह रुमाल पड़ा हुआ था जिससे उसके कंधों और पीठ के कुछ हिस्सों को भी ढांप रखा था सलीके से तराशी हुई उसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी हसन नज़रें उस पर जमाए हुए आहिस्ता आहिस्ता उठा उस आदमी ने इसी तरह उस पर नज़रें जमा रखी थीं उसके जिसम में ज़रा सी भी हरकत नहीं थी यह शक गलत मालूम नहीं होता था कि वो बुत है आखिर उस आदमी में हरकत हुई वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा उसके अकब में मंज़र यह था कि एक चट्टान दाएं से बाएं गई हुई थी कुदरत ने दरमियान से इस तरह काट दिया था कि एक गली बन गई थी जिसमें से एक घोड़ा आसानी से गुजर सकता है गली की तरफ चट्टान के दोनों हिस्से दीवारों की तरह आमूदी थे वो आदमी उल्टे कदम चलता उस गली में दाखिल हो गया हसन बिन सबाह ने फरही के घोड़े की बाग अपने घोड़े की जीन के साथ बांधी अपने घोड़े पर सवार हुआ और गली में दाखिल हो गया वो महसूस कर रहा था कि उस पर कुछ असर हो गया है और वो अब उसी असर के कब्ज़े में है वो आदमी इस कुदरती गली के अगले सिरे पर खड़ा था उसके पीछे एक और चट्टान थी यूँ मालूम होता था जैसे वहां ये गली बंद हो गई हो उस आदमी ने अपना दायां बाजू बाईं तरफ लंबा किया और उस तरफ गायब हो गया हसन वहां तक जाकर उसी तरफ मुड़ गया जिस तरफ उस आदमी ने इशारा किया था वो आदमी आगे जाकर एक और मोड़ मुड़ रहा था हसन इस तरह उसके पीछे जाता रहा जैसे उसका पालतू जानवर हो या जैसे उस शख्स ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो वो जगह कुशादा थी बेआबो गियाह चट्टानों के बजाय वहाँ हरी भरी टेकरियाँ थीं यह हरियाली उस चश्मे की बदौलत थी जो करीब ही थी हसन आगे जाकर एक सरसब्ज टेकरी से मुड़ा तो सामने का मंज़र देखकर वो ठिटक गया यह मंज़र उसके लिए गैर मुतव था उसके सामने एक ऊंची टेकरी थी जो दाएं बाएं गई हुई थी ये सरसब्ज घास और फूलदार जंगली पौधों से ढकी हुई थी यूं लगता था जैसे ये इंसानी हाथों से बनाई गई हो लेकिन उसकी छत और दीवारें बता रही थीं कि यह कुदरत की तामीर है उसके ऊपर से खुदरू बेलें लटक रही थीं वो आदमी जिसकी रहनुमाई में हसन वहाँ तक पहुंचा था उस गुफ के बाहर खड़ा था हसन वहाँ गया तो उसे अंदर का मंज़र नज़र आया खजूर के पत्तों की सी बनी हुई खासी लंबी चौड़ी चटाई बिछी हुई थी सामने एक आदमी गाऊ तकिए से लगा बैठा था उसकी दाढ़ी लंबी और खशखशी थी उसके सर पर खरगोश की खाल की टोपी थी और टोपी पर काले रंग का रुमाल था जो उसके कंधे से भी नीचे आया हुआ था उसने सब्ज रंग का चोगा पहन रखा था उसकी वजाहत से पता चलता था कि वो मजहबी पेशवा है यह बताना मुश्किल था कि वो किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता था तीन आदमी उसके एक तरफ और तीन दूसरी तरफ आमने सामने बैठे हुए थे उन सब के सरों पर एक मखसूस अंदाज की पगड़ियाँ थीं और उन सब पर सियाह रंग के रुमाल थे जो उनके कंधों से नीचे तक आए हुए थे उस बुज़ुर्ग ने जिसके चेहरे पर जलाल था उस आदमी को हाथ से इशारा किया जिसकी रहनुमाई में हसन वहाँ तक पहुँचा था वो आदमी अंदर चला गया इस कुशादा गुफ में एक चौड़ा टीला सा था वो आदमी उसके पीछे चला गया वहाँ से बाहर आया तो उसके साथ फरही थी जो ज़रा लंगड़ा कर चल रही थी फरही को देखकर हसन बिन सबाह को यकीनन इत्मीनान हुआ होगा कि वो जिंदा है लेकिन यह सवाल उसे परेशान कर रहा था कि ये लोग कौन हैं और फरही इनके पास कैसे आ गई ये लोग डाकू और रहजन तो नहीं लगते थे लेकिन डाकुओं और रहजनों के सरों पर सींग तो नहीं होते बुज़ुर्ग के इशारे पर फरही को उसके सामने बिठा दिया गया सूरज अपना उस रोज़ का सफ़र पूरा करके उफक के पीछे जा सोया था शाम तारीख हो गई थी गुफ में मशालें रख दी गई थीं अजीब अजीब से साए गुफ की दीवारों पर नाच रहे थे दास्तान को उस बुज़ुर्ग को दरवेश कहे तो ज़्यादा मौजू होगा अरे नौजवान दरवेश ने हसन बिन सबाह से कहा क्या घोड़े से उतरकर हमारे दरमियान बैठना तुझे गवारा नहीं हम सब तेरे इंतज़ार में बैठे हैं मैं अभी चेहरे पढ़ने के काबिल नहीं हुआ हसन ने कहा मैं दिल की नीयत को आंखों के आईने में नहीं देख सकता अगर आपके दिल में भी वही जलाल है जो आपके चेहरे पर देख रहा हूँ तो आप मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे कि यह मेरी हमसफ़र आप तक किस तरह पहुंची घोड़े से उतर आए नौजवान दरवेश ने कहा तुझे हर सवाल का जवाब मिलेगा और तू हमारे सवालों के भी जवाब देगा ये लड़की तेरी हम सफ़र है हमारी नहीं आ इसके साथ बैठ और इसके साथ रवाना हो हसन घोड़े से उतरा और जूते उतारकर चटाई पर गया दरवेश ने अपना दायां हाथ हसन की तरफ बढ़ाया तो हसन ने दोनों हाथों से उसके साथ मुसाफा किया दरवेश के इशारे पर वो फरही के पास बैठ गया फरही ने उसकी तरफ और उसने फरही की तरफ देखा फरही के चेहरे पर खौफ की जरा सी भी झलक नहीं मिलती थी वो घबराई हुई भी नहीं लगती थी उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई हसन के चेहरे पर तजब्जुब का जो तासुर था वो उड़ गया और उसके चेहरे पर रौनक आ गई तुम्हारा नाम दरवेश ने पूछा हसन बिन सबाह तेरे इस कठिन सफ़र की मंजिल क्या है दरवेश ने पूछा कहाँ है मंजिल तेरी ख्वाबों के सफ़र की मंजिल बयान नहीं की जा सकती हसन ने कहा ख्वाबों के सफ़र की मंजिल होती ही नहीं अय नौजवान दरवेश ने कहा क्या तू नींद में ख्वाब देखा करता है या बेदारी में नींद में ख्वाब जो देखा करता हूँ उन्हें बेदारी में हकीकत बनाने की कोशिश किया करता हूँ हसन बिन सबाह ने कहा तू शायद नहीं जानता अय नौजवान दरवेश ने कहा नींद के ख्वाब ख्वाहिशों और आर्जुओं के चलते फिरते अक्स होते हैं आंख खुलते ही बुलबुलों की तरह फट जाते हैं और बेदारी के ख्वाब फरार का एक सफ़र है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती अय दरवेश हसन ने कहा मैं ख्वाहिशों और आरजुओं का पुजारी नहीं न मैंने कभी अपनी रूह को ख्वाहिशों और आरजुओं की गज़ा दी है फिर तू रूह को क्या गज़ा दिया करता है अज़म हसन ने जवाब दिया मैं अपनी हर आरजू को अज़म के सांचे में ढाल लिया करता हूँ अपने सफ़र की भी कुछ बात कर आए नौजवान दरवेश ने कहा यह भी एक ख्वाब है हसन ने कहा ख्वाब में जो देखा था वो मेरे सामने आता जा रहा है क्या तूने ख्वाब में हमें भी देखा था दरवेश ने पूछा हम भी तो तेरे सामने आए हैं देखा था ए दरवेश हसन ने जवाब दिया शफाफ पानी का एक चश्मा देखा था उसमें से एक अक्स निकला जिसने इंसान का रूप धार लिया उसने खामोशी की ज़ुबान में मेरी रहनुमाई की मैंने सात गज़ाल देखे जो एक जगह बैठे हुए थे कहां है गज़ाल छह मेरे सामने बैठे हैं हसन ने जवाब दिया सातवां खड़ा है इससे तू क्या समझा यह कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूं हसन बिन सबाह ने देखा कि सिर्फ ये दरवेश बोलता है और बाकी सब बिल्कुल चुप बैठे हैं दरवेश के होंटों पर तबस्सुम है और बाकी सबके चेहरे बेतासुर हैं दरवेश बोलता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं और हसन बोलता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं काबिल एहतराम दरवेश हसन ने पूछा क्या मैं इस लड़की को अपने साथ ले जा सकता हूँ हमारा इस लड़की पर कोई हक नहीं आए नौजवान दरवेश ने कहा इस लड़की का हम पर कुछ हक था जो हमने अदा कर दिया है हसन के चेहरे पर हैरत का तासुर आ गया वो कभी दरवेश को और कभी फरही को देखता था हमने ये फूल इन पत्थरों से उठाया है दरवेश ने कहा ये तेरी हम सफ़र है इसे तेरे साथ ही जाना है लेकिन हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि तू उस लड़की के काबिल है या नहीं हैरान मत हो लड़के गुस्से को भी अपने काबू में रख हम तुझे रास की ये बात बताते हैं कि हम जानते हैं तू कहाँ जा रहा है इतने तवील और कठिन सफ़र में इतना हसीन हम सफ़र मिल जाए तो मुसाफत आसान हो जाती है और फासले सिमट आते हैं लेकिन राह हयात के जो मुसाफिर औरत को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि वो एक खूबसूरत जिसम है उनकी आसान मुसाफतें भी कठिन हो जाया करती हैं हम ये देखना चाहेंगे कि तू औरत को क्या समझता है इस लड़की का आप पर क्या हक था हसन बिन सबाह ने पूछा तू ही इसे बता दे ऐ लड़की दरवेश ने फरही से कहा हमारे घोड़े नागों से डरकर भाग उठे थे ना फरही ने हसन से कहा मेरा घोड़ा बेकाबू होकर एक और ही तरफ निकल गया मैं संभल ना सकी और गिर पड़ी गिरने तक याद है होश में आई तो यहां पड़ी थी इन्होंने मेरी देखभाल ऐसी की के खौफ से निजात मिल गई सिर्फ तुम्हारा गम था उन्होंने कहा तुम आ जाओगी और तुम आ गए क्या तुमने इन्हें बताया है कि हम कहाँ जा रहे हैं हसन ने फरही से पूछा नहीं फरही ने जवाब दिया ये पूछते रहे मैं कहती रही कि मेरा हम सफ़र बताना चाहेगा तो बता दे मैं नहीं बताऊंगी फिर इन्होंने कहा कि ये कह दो कि मुझे मालूम नहीं मैंने कहा मुझे मालूम है बताऊंगी नहीं इन्होंने कहा हम तुम्हें बेआबरू करके मार डालेंगे मैंने कहा तब भी नहीं बताऊंगी इन्होंने कहा हम तुम्हारी आबरू के मुहाफिज हैं तुम्हें घर छोड़ आएंगे मैंने कहा फिर भी नहीं बताऊंगी इस बुज़ुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा आफरीन हम तुम्हारी पूजा करेंगे इन्होंने यह भी कहा कि तेरे हम सफ़र को यहां लाने के लिए आदमी चला गया है सुन लिया ए नौजवान दरवेश ने हसन से पूछा अब हमने देखना है कि तू इस लड़की के जिसम को चाहता है या रूह को दरवेश ने उस आदमी को जो हसन को यहां लाया था इशारा किया वो आदमी गुफ के अंदर ही कहीं गायब हो गया वो मशालों की रोशनी में सामने आया तो उसके हाथों में तीन गुड़िया थी ये मिट्टी के बने हुए तीन औरतों के बुत थे खूबसूरती से बनाए गए थे हर बुत तकरीबन डेढ़ फीट ऊंचा था और हर बुत बरहना था तीनों बुत और गोली उसके आगे रख दो दरवेश ने कहा उसके हुक्म की तामील हुई कोई एक गुड़िया उठा दरवेश ने हसन से कहा और उसके दाएं कान में गोली डाल दे हसन ने एक बुत उठाकर उसके कान में गोली डाली ये गोली बुद्ध के मुंह से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी अब दूसरी गुड़िया उठा ले दरवेश ने कहा और गोली उसके कान में डाल हसन बिन सबाह ने यह बुद्ध उठाया और गोली भी उठाई ये गोली एक गोल कंकरी थी ये कांच की उन गोलियों जितनी थी जिनसे आजकल बच्चे खेला करते हैं हसन ने पत्थर की यह गोली बुद्ध के कान में डाल दी कान में एक सुराख था गोली उस कान में गई और दूसरे कान से बाहर आ गई अब एक और गुड़िया उठा दरवेश ने कहा और ये गोली उसके दाएं कान में डाल हसन ने दूसरा बुत अलग रखकर तीसरा बुत उठाया गोली उठाकर उस बुत के कान में डाली ये गोली अंदर ही कहीं गायब हो गई जोर जोर से हिला इसे दरवेश ने कहा गोली को बाहर आना चाहिए हसन ने बुत को बहुत हिलाया झिंझोड़ा उल्टा किया दाएं और बाएं पहलू पर करके हिलाया मगर गोली बाहर ना आई यह गुड़िया बेकार है दरवेश ने कहा इसे अलग रख दे इस बदबख्त ने हमारी गोली हजम कर ली है हसन ने यह बुत रख दिया क्या यह बुत खूबसूरत नहीं दरवेश ने पूछा क्या ये तुझे अच्छे नहीं लगते खूबसूरत हैं हसन ने जवाब दिया दिल को अच्छे लगते हैं बनाने वाले ने औरत की रानाइयाँ इन बुतों में समो दी हैं इनमें सिर्फ जान डालनी बाकी रह गई है हम तुझे इनाम देना चाहते हैं दरवेश ने कहा कोई एक गुड़िया उठा ले तीनों एक जैसी हैं हसन बिन सबाह ने सबसे आखिर वाला बुत उठा लिया जिसके कान में गोली डाली तो किसी तरफ से गोली बाहर नहीं आई थी दरवेश ने उसे बेकार कहकर नापसंदीदगी का इजहार किया था तूने अकल से काम नहीं लिया ए नौजवान दरवेश ने कहा या तूने सुना नहीं कि मैंने इस गुड़िया के मुतालिक कहा था कि इसने हमारी गोली हजम कर ली है इसे अलग फेंक दो मोहतरम दरवेश हसन ने कहा मैं अकल और तवज्जह से काम ना लेता तो आपकी इस गुड़िया को हाथ भी ना लगाता दूसरी दोनों में से कोई एक उठा लेता लेकिन मेरी अकल ने मुझे बताया कि यह गुड़िया उठा ले तेरी अकल ने इसमें क्या खूबी देखी है दरवेश ने पूछा एक के कान में गोली डाली तो उसके दूसरे कान से निकल गई हसन ने कहा अय दरवेश आली मुकाम आप यकीनन ऐसी बेटी को पसंद नहीं करेंगे जो अपने बाप के पंदो नसीहत एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे ऐसी बहन भी बुरी ऐसी बीवी भी बुरी दूसरी के कान में गोली डाली तो उसने मुंह के रस्ते निकाल दी ऐसी औरत तो और ज़्यादा खतरनाक होती है वो घर का कोई राज अपने दिल में रख नहीं सकती बात सुनी और हर किसी के आगे उगलना शुरू कर दी ऐसी औरत अपने घर का और अपने मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया करती है और जिसे आपने बेकार कहा है यह बड़ी कीमती औरत है जो राज की बात अपने दिल में दफन कर लिया करती है मैंने इस बुत को या गुड़िया को बहुत हिलाया उल्टा किया हर पहलू पर करके जोर जोर से झींझोड़ा लेकिन इसने गोली नहीं उगली इसे आप तोड़ फोड़ कर इसका वजूद ख़त्म कर दें तो ही आप इसके अंदर से गोली निकाल सकते हैं ये वो खूबी है जो आपने फरही में देखी है आप आठ हैं और ये अकेली क्या आठ आदमियों से डरकर इसने आपको बता दिया था कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं मैं इसे अपनी उम्र की हम सफ़र बनाऊंगा आफरीन ए नौजवान दरवेश ने कहा खुदा ने तुझे वो दानिश इसी उम्र में दे दी है जो औरों को उम्र भर का तजुर्बा हासिल करके बुढ़ापे में भी नहीं मिलती तू पैदाइशी दानिशमंद है दरवेश ने अपने आदमी से कहा तीनों गुड़ियों को उठाकर संभाल लो इनके इम्तिहान में शायद ही कभी कोई कामयाब हुआ हो एक आदमी ने तीनों बुद्ध उठाए और मशलों की रोशनी से निकल गया खाना गर्म करो दरवेश ने हुक्म के लहजे में कहा दस्तरखान लग जाए फौरन ये दोनों भूखे हैं उस वीराने में इतना पुरतकल्लुफ खाना हसन बिन सबाह के लिए हैरान कुन था हसन और फरही इस कदर भूखे थे कि बेसब्री से खाना निगलते चले गए खाने के बाद दरवेश ने हसन बिन सबाह को अपने पास बिठा लिया बाकी सब वहाँ से चले गए हसन और फरही के सोने का अलग इंतज़ाम कर दिया गया फरही जाकर सो गई हसन दरवेश ने कहा तेरा नाम हसन बिन अली होना चाहिए था लेकिन तूने हसन बिन सबाह कहलाना ज़्यादा पसंद किया मेरे आबा अजदाद में सबाह हमीरी एक शख्स हो गुजरे हैं हसन ने कहा मेरा बाप कुछ कम उस्ताद नहीं लेकिन सबाह के मुतालिक सुना है कि उसने बहुत ही शोहरत और इज्जत पाई थी और उसका कमाल ये था कि किसी को शक तक ना होने दिया कि वो अयारियों का अयार और फरेबकारों का उस्ताद है बस ये वजह थी कि मैंने बिन अली के बजाय बिन सबा हमीरी कहलाना ज़्यादा पसंद किया लेकिन आपको मेरा नाम किसने बताया है सिर्फ नाम ही नहीं हसन दरवेश ने जवाब दिया तुम्हारे मुतालिक मुझे बहुत कुछ बताया गया है तुम जिस जगह से आ रहे हो और जिस जगह जा रहे हो मैं उनके दरमियान एक रबता हूँ एक रिश्ता हूँ पुल समझ लो और रुक जाएं। हसन अचानक बोल पड़ा मुझे याद आ गया मेरे उस्ताद अब्दुल मलिक इब्न आताश ने मुझे बताया था कि ख्वाब में मुझे एक गार नज़र आएगा और उस गार में मेरा इल्म मुकम्मल हो जाएगा मैं आपकी ज़ात में ऐसा गुम हो गया था कि याद ही ना रहा कि मैंने ख्वाब में एक गार देखा था उस गार पर धुंध छाई हुई थी इतना ही पता चलता था कि उस धुंध में कुछ है मैंने पहले जिन गज़लों का जिक्र किया है कि ख्वाब में देखे थे वो इसी धुंध में गायब हो गए थे मोहतरम दरवेश ये मेरे ख्वाब वाला गार तो नहीं हाँ हसन दरवेश ने कहा गार वही है लेकिन तेरा इल्म यहाँ मुकम्मल नहीं होगा यहाँ से तुझे रोशनी मिलेगी जिसमें तुझे अपनी मंजिल अपना मुस्तबिल और अपनी शख्सियत बहुत ही बड़ी नज़र आएगी अब तू ये पूछेगा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये तो मैंने पूछना ही है हसन ने कहा इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें सुन ले हसन दरवेश ने कहा मुझे मालूम था तू आएगा यह हमारा एक ज़मींदोज निज़ाम है इस निज़ाम को हम ज़मीन के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से वो इलाका शुरू होता है जिस पर हमने कब्ज़ा करना है आगे बहुत से किले हैं जिनमें कुछ छोटे और बाज़ बहुत ही छोटे हैं और चंद एक ज़रा बड़े हैं उनमें कई एक ऐसे हैं जो चंद एक अमरा की ज़ाती मिल्कियत बने हुए हैं हमने उन पर कब्ज़ा करना है किले फतह करने के लिए तो फ़ौज की ज़रूरत होती है हसन ने कहा हम फ़ौज कहाँ से लाएंगे लोगों की फ़ौज बनाएंगे दरवेश ने कहा लेकिन किस तरह हसन ने पूछा दरवेश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई यह है वो सबक जो मैंने तुझे देना है दरवेश ने कहा तूने अब्दुल मलिक इब्न आताश की शागिर्दगी कर ली है अब तू एक और शख्स की शागिर्दगी करेगा वो है अहमद बिन गताश आगे एक किला है जिसका नाम किला असफहान है अहमद बिन कताश उस किले का वाली है वो तुझे इल्म सहर का माहिर बना देगा अब मैं जो बात कहने लगा हूँ उसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुनना और हर लफ्ज़ को सीने में महफूज रखते जाना बनी नौ इंसान दो ताकतों के गलबे में है यूं कह लो कि दुनिया पर दो ताकतों की हुकूमत है एक है खुदा और दूसरा है इबलीस इंसान खुदा को कई रूप में देखकर उसकी इबादत करता है इंसान ने सूरज को खुदा बनाया आग को सांप को और आसमानी बिजली को भी इंसान ने खुदा बनाया आखिर इस्लाम ने आकर इंसान को बताया कि खुदा क्या है यह भी बताया कि यह सूरज चांद आसमानी बिजलियाँ आग सांप वगैरह खुदा नहीं बल्कि यह खुदा की पैदा की हुई हैं उस खुदा की वहदानियत को लोगों ने मान लिया हम भी खुदा को मानने वाले मुसलमान हैं लेकिन हमने अपना अलग फ़िरका बना लिया है और हमारा दावा यह है कि सही इस्लाम हमारे पास है लेकिन अहल सुन्नत ने लोगों के दिलों पर अपने अकायद ऐसे तरीक़े से नक्श कर दिए हैं कि अब हम उनके अकायद को नहीं बदल सकते हमें कोई और तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा क्या आपने कोई तरीक़ा सोचा है हसन ने पूछा हाँ दरवेश ने कहा मैं यही बताने लगा हूँ लेकिन ये तरीक़ा ऐसा नहीं कि पत्थर उठाओ और किसी के सर पर मारो यहां मामला नज़रियात का है और इस मामले को सिर्फ तुम समझ सकते हो सिर्फ मैं क्यों हसन ने कहा मेरा इल्म अभी खाम है और तजुर्बा कुछ नहीं तुम्हारे पास सब कुछ है दरवेश ने कहा पहले वो सुन लो जो हमने सोचा है फिर तुम खुद महसूस करोगे कि यह तो पहले ही तुम्हारे दिल में था बात यह है हसन अहल सुन्नत ने लोगों का रिश्ता खुदा के साथ बराह रास्त कायम कर दिया है ईसाइत ने भी खुदा को ही अव्वल और आखिर करार दिया है और वो ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं यहूदी हैं आतिश परस्त हैं ये भी खुदा को मानते हैं हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हुकूमत अहल सुन्नत की है शायद आपको मालूम होगा हसन ने कहा कि हमारा अमीर अबू मुस्लिम राजी इस कदर कट्टर सुन्नी है कि उसने मेरे बाप से कहा था कि तुम अपने आप को अहल सुन्नत जाहिर करते हो तो अपने बेटे को एक इस्माइली पेशवा अब्दुल मलिक इब्ने आताश की शागिर्दगी में क्यों बिठा रखा है मेरे बाप ने अबू मुस्लिम राजी के इताब से बचने के लिए मुझे इमाम मुआफिक के मदरसे में भेज दिया था मुझे यह भी मालूम हुआ है कि अबू मुस्लिम ने अपने जासूस फैला रखे हैं जो घर घर की खबर रखते हैं कि कहीं सुन्नी अकीदे के ख़िलाफ़ कोई बात तो नहीं हो रही हाँ हसन दरवेश ने कहा अबू मुस्लिम राजी ने अपने जासूस फैला रखे हैं उसे मालूम नहीं कि हमने उसके जासूसों के पीछे जासूस छोड़े हुए हैं हम जानते हैं कि सलजोकी सलातीन की हुकूमत हमारी दुश्मन है लेकिन हम उनकी जड़ें खोखली कर देंगे हमें मिस्रियों पर भरोसा है वो उबैदी हैं और हमारे हम अकीदा भी हैं मोहतरम दरवेश हसन ने कहा मालूम नहीं क्यों मुझे ख्याल आता है कि मैं मिस्र जाऊं और वहां से सलजोकियों के खिलाफ ताकत हासिल करूं। दरवेश अजीब सी तरह हंसा और कुछ देर हसन बिन सबा के मुंह को देखता रहा क्यों मोहतरम दरवेश हसन ने ज़रा खिसियाना सा होकर पूछा क्या मैंने गलत बात कह दी है नहीं हसन दरवेश ने कहा मैं तुम्हारी इस बात से खुश और मुतमिन हुआ हूँ कि तुम्हें मिस्र का ख्याल आया है मैं खुश इसलिए हूँ कि यह ख्याल वैसे ही नहीं आया बल्कि तुम में एक पुरअसरार ताकत है जो तुम्हें इशारे देती है मैं पूरे वसूख के साथ पेशन गोई कर सकता हूँ कि तुम में नबूवत के नुमायाँ आसार पाए जाते हैं तुम नबी बनो या ना बनो तुम्हें इतनी ही शोहरत मिलेगी जो सिर्फ नबियों को मिला करती है आने वाली नस्लें और उनकी नस्लें हमेशा तुम्हारा नाम लेती रहेंगी लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अच्छे नाम से ही याद किया जाएगा लोग तुम्हें याद ज़रूर रखेंगे पहले दरवेश की हंसी निकली थी अब हसन हंस पड़ा आपको मेरी बात से खुशी हासिल हुई थी हसन ने कहा और मुझे आपकी बात से खुशी हासिल हुई है मालूम नहीं क्यों मुझे बुराई से मुसरत हासिल होती है मैं तुम्हें इसी बात पर ला रहा था दरवेश ने कहा मैं खुदा का जो जिक्र कर रहा था वो ये था कि एक क़वत खुदा की है और दूसरी इबलीस की खुदा का नाम लेकर लोगों को उनके अकीदे से हटाना कोई आसान काम नहीं इस काम को हम इस तरह आसान करेंगे कि हम दूसरी क़वत का इस्तेमाल करेंगे यानी इबलीस की क़वत बदी में बड़ी ताकत है हसन बदी में कशिश है बदी में लज्जत है और बदी में नशा है यह क़वत तुम्हारे दिलो दिमाग में मौजूद है हम लोगों पर बदी का नशा तारी करेंगे तुम्हारे साथ ये जो लड़की है ये तुम्हारा काम आसान करेगी उसके साथ ही हम इल्मे सहर को काम में लाएंगे ये इल्मे सहर ही का करिश्मा है कि तुम मुझ तक पहुँचे हो अब हमने तुम्हारे इस इल्म की तकमील करनी है इंसान में खुदा ने यह कमज़ोरी शुरू ही से रख दी है कि वो बदी की तरफ जल्दी आ जाता है वो इबलीस ही था जिसने इंसान को बहका कर जन्नत से निकाला था हम लोगों को दुनिया ही में जन्नत देंगे और ये तुम दोगे मोहतरम दरवेश हसन ने कहा मेरा ख्याल है कि मज़ीद बातों की ज़रूरत नहीं आप जो कुछ भी कहे जा रहे हैं ये पहले ही मेरे जहन में मौजूद है क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझे मेरी उस मंजिल तक पहुंचा दें जहां से मैं अपना महाज खोल सकूंगा कल सुबह तुम यहां से रवाना हो जाओगी दरवेश ने कहा इस लड़की को भी तालीम और तरबियत दी जाएगी